अंतर्यामी सबका स्वामी तू अंतर्यामी सबका स्वामी तू अंतर्यामी सबका स्वामी तू अंतर्यामी सबका स्वामी तेरे चरणों में चारों धाम ગુણગાન કરીએ રામ ગુણગાન ગરે નિદા ગરે નિદા નિદા પદની નિદા પદા ગમા રે ગા રે નિદા નિદા गुणगान करिए राम का సగమ వదని సరని దని దని ద మదని దని ద దని దని ద సని దని ద వద మప గమ పద ని ద మగరి ద ఓ రామ मुख बोले श्री सीताराम जी सरकार की जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय बोलिए प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय अरे कथा अंतिम लाभ कहते अंत भला तो सब भला जोर से तो बोल लो कम से बोलिए प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की सज्जनों कहा गया है कि जो प्रातः नौ बजे से लेकर शाम पांच बजे तक मजदूरी करेगा काम करेगा उन्हीं को मजदूरी शाम में मिलेगी जितनी होनी चाहिए और जो सुबह से लेकर के शाम तक मजदूरी नहीं करेगा अर्थात काम नहीं करेगा उनको मजदूरी नहीं मिलेगी ठीक वैसे ही आप सुबह अर्थात पिछले नौ तारीख से लेकर के और आज पंद्रह तारीख तक जो कथा में बैठे हैं कथा का जितना लाभ होना चाहिए उनको सबको मिलेगा बोले अंत वाला अंत वाले को भी मिलेगा बस अंत भला तो सब भला इस दृष्टि से तो बहुत अच्छा आइए इस आज इस कथा का मतलब भोग पड़ना है अंतिम दिन का कार्यक्रम है महाराज जी के मुखार उनसे श्रवण करेंगे उससे पहले एक दो थोड़ी छोटी छोटी सूचनाएं हैं वो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर दूं पहली सूचना यह है कि इसी मंच पर कल संध्या सात बजे से महाराज का कार्यक्रम होगा जो विविध मंडलियों के द्वारा और सारे बहुत मंडलियां होंगे प्रमुख रूप से श्रीचंद जी महाराज होंगे उनके द्वारा महाराज का कार्यक्रम होगा आप लोग इसी मन से दर्शन करेंगे <clears throat> साथ में बता दूं ये जो वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं पूरे उस दिन से बेचारे लगे हुए हैं लगातार इन जिन किसी महा महानुभावों को चाहिए वो मेरे पास में नहीं आना मैं बहुत धीरे से फोन नंबर बोल लेता हूं और उनका नाम बता देता हूं ये हैं एस के स्टूडियो और ये रहते हैं विष्णु स्वामी अखाड़ा ज्ञान गुदड़ी वृंदावन पास में वहां पर इनका स्टूडियो नाम से दुकान है एस के स्टूडियो ज्ञान सिंह जी ज्ञानी इनका नाम है फोन नंबर आप चाहें तो इनका नोट कर सकते हैं बानवे एक सौ अंठानवे पच्चीस आठ सौ तेरासी फिर से बोल देता हूं बानवे एक सौ अंठानवे पच्चीस आठ सौ तैतीस और दूसरा है सतासी नौ सौ तैतीस बास सतासी नौ सौ तेरह सतासी नौ सौ तेरह छत्तीस दो सौ पचपन फिर से बोल लेता हूं सतासी एक नौ सौ तेरह छत्तीस दो सौ पचपन ये दो नंबर हैं इनके इन पर आप संपर्क कर सकते हैं इनका दाम वो स्वयं ही बताएंगे क्या इनमें कॉस्ट लगेगा पूरे सात दिन के महाराज जी की वीडियो आप सुन सकेंगे बाद में भी महाराज जी के अनुपस्थिति में भी उपस्थिति यदि करनी हो तो साधन इन्होंने बना दिया है वीडियो अब आइए व्यास पूजन के माध्यम से फिर महाराज जी के मुखारबिंद से हम लोग श्रवण करें श्रीराम राम राम मङ्गलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ वन्दे विदेहतनया पदपुण्डरीकम् कैशौरसौरभसमाहितयोगिचित्तम् हन्तुं त्रितापमनिशं मुनिहंससेव्यम् सन्मानशालिपरिपीत परागपुञ्जम् दूरवादलद्युतितनुं तरुणाब्जनेत्रम् विभूषण भूषितांगम हेमाम्बरम्बरविभूषणभूषिताङ्गम् किशोरमूर्ति किशोरमूर्तिं मनोरथ मनोरथभुमां भज जानकीशम् यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं वाष्पवारि परिपूर्णलोचनम् मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् गङ्गातरङ्गरमणीय जटाकलापम् गौरीनिरन्तरविभूषितभामभागम् नारायणप्रियमनङ्ग मदापहारम् वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम् सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः श्रिया मांडवी उर्मिला श्रुतिकीरती वरुबाम चारि सुवन चारि रतन तुलसी करतु प्रणाम श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि वरण रघु जस जोदायक फलचार दास जी के पद कमल बारंबार मना गुण गावूं सिय राम के हनुमत हो सहाय ले तु सदा सुधी जननी जननी जनक राजे प्रभु श्री सीताराम श्री सीताराम जी महाराज की श्री हनुमान जी महाराज की जय श्री गौरी शंकर भगवान की जय श्री राधा कृष्ण भगवान की जय श्री तुलसीदास जी महाराज की जय श्री गुरुदेव भगवान की जय श्री वृंदावन धाम की जय सब संतन की जय सब भक्तन की जय जय जय श्री सीताराम जय जय श्री राधे श्याम नमः पार्वती पतेह हर हर महादेव भगवान के अनुग्रह विग्रह पूज्य चरण श्रद्धे संतजन भगवत चरण कमला अनुरागी बंधु श्रद्धामयी माताओं श्रीधाम वृंदावन की रससिक्त भूमि में स्थित इस दिव्य आश्रम के आध्यात्मिक प्रांगण में उपस्थित होकर हम लोग भगवान की मंगलमयी गौरव गाथा के गायन श्रवण का अलभ्य लाभ प्राप्त करें उसके पूर्व बड़े प्रेम से श्री भगवान नाम संकीर्तन मिलजुल कर मस्ती के साथ बोले सीता राम जय सीता राम सीता राम जय सीता राम राधे श्याम जय राधे सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम सीताराम जय राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम श्याम जय राधे श्याम ओ राधे श्याम जय राधे श्याम सेवा करते हुए चारों निराशा हो जब चारों ओर निराशा हो जब शेष न कोई आशा हो जब शेष ना सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम जीते जी तक जग का नाता जीते जी तक जग का नाता इसके बाद न कोई निभाता इसके कोई निभाता अंत समय में अंत समय में आता काम सीताराम जय सीता सीताराम जय सीताराम राधे श्याम जय राधे राधे श्याम जय राधे श्याम जय सीताराम राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम जय जय श्याम जय जय श्याम जय जय श्याम जय जय श्याम जय जय श्याम जय जय श्याम जय जय श्याम जय जय श्याम जय जय श्याम जय जय श्याम जय जय श्याम जय जय श्याम जय जय श्री सीताराम जय सीताराम जय सीताराम जय सीतारा श्री सीताराम जी महाराज की जय श्री हनुमान जी महाराज की जय श्री तुलसीदास जी महाराज की को रघुवीर सरेश संसारा रघुवीर सरेश संत शेखर कलिपावन अवतार भगवत भक्ति भूषण श्री सीताराम चरणामुज चंचरीक गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं श्री राम जी की तरह शील और स्नेह का निर्वाह करने वाला दूसरा और कौन होगा अस स्वभाव कहूँ सुने न देखे राम जी के स्वभाव की एक झलक श्री हनुमान जी महाराज अशोक वाटिका में पहुंचे अशोक वृक्ष के पत्तों के बीच में छिप गए जनक नरेंद्र नंदनी श्री जानकी जी का दर्शन किया कृष तनुशीस जटा एक बैनी जपति हृदय रघुपति गुण शैनी निज पद नयन दिए मन राम पद कमल लीन परम दुखी भा पवन सुत देख ज्ञान की दीन श्री हनुमान जी सुवन समीर को रणधीर वीर बड़ोई देख गति ज्ञान की बाल जिम दी और रोए बालकों की तरह श्री हनुमान जी रोने लगे श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं उसी समय वहां रावण आया संग नारी बहु किए बनावा बहुत तरह से श्री सीता जी को समझाने की चेष्टा की पर श्री जानकी जी ने एक बार भी नहीं देखा रावण मारने के लिए उद्यत हुआ तो मंदूधरी ने हाथ पकड़ लिया एक मास की अवधि देकर गया मास दिवस महु कहा न माना तो मैं मारवी काढ़ कृपाना श्री जानकी माता अत्यंत व्यथित हो गई त्रिजटा से अग्नि की याचना करती हैं आन काठ रचि चिता बनाई आन काठ रच चिता बनाई आन काठ रच चिता काठ रच चिता बनाई आन काठ चिता बनाई काठ रच चिता माथो अनल पुनि दे लगाई माथो अनल पुनि दे दे लगाई चिता बनाई आन काट रच चिता बनाई चिता आन का करज सीता बनाई आन काठ रज चिता बनाई चिता बनाई आन